जहां पर यह लाश मिली थी वो काफी ऊंचाई वाली जगह थी मुकेश रस्तोगी ने याद करते हुए कहा ताज्जुब की बात यह है कि ये लाश काफी व्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी उस लाश के बाल काफी लंबे थे और शरीर पर कपड़े भी पहने हुए थे करीब से एक नजर देखकर ही आर्कियोलॉजिस्ट ने बता दिया कि ये डेड बॉडी नवाब हामिद खां के समय की ही है ये डेड बॉडी किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी लेकिन उसके मरने की वजह का पता नहीं लग पा रहा था सबसे अजीब बात यह थी कि इस लाश के हाथ में गाय की चमड़ी फंसी हुई थी गाय की स्किन के इस टुकड़े पर कोई केमिकल भी लगा हुआ था जिस वजह से ये इतने सालों बाद भी बिल्कुल खराब नहीं हुआ था हमने बड़ी सावधानी से उस लाश के हाथ में से गाय का वो स्किन अलग किया जब उस गाय के स्किन को हमने देखा तब हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उस स्किन पर कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो किसी अलग ही भाषा में लिखा गया था हमारे चीफ सुरेंद्र सिंह को कई सारी हिस्टोरिकल लैंग्वेज पढ़ना आता था उन्होंने ही किसी तरह से गाय के स्किन पर लिखे संदेश को पढ़ना शुरू कर दिया वहां पता चला कि उस स्किन पर कोई राज लिखा हुआ था एक बार के लिए तो हमें उस चीज पर भरोसा ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कोई सपना देख रहे हो और ये राज गोल्डन पिलर से जुड़ा हुआ था विक्रांत ने अनुमान लगाते हुए कहा हम्म, सही बात गोल्डन पिलर का ही राज था मुकेश ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा और इससे हमें यह भी विश्वास हो गया था कि ये लाश या तो नवाब हामिद खां के सेनापति शेख मोहम्मद के बेटे की है या उसके पोते की है या फिर उसके किसी अन्य रिश्तेदार की है उस स्किन पर लिखा गया था कि शेख मोहम्मद ने काफी ज्यादा मात्रा में खजाना और गोल्डन पिलर को मुंबई के ही किसी सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा हुआ है उसने इस खजाने को किस जगह पर छुपाया हुआ है ये याद रखने के लिए शेख मोहम्मद ने दो मैप भी तैयार किए थे लेकिन अंत में शेख मोहम्मद की जब अचानक से युद्ध में मौत हो गई उसे अपने खजाने को हटाने का मौका ही नहीं मिला फिर अंतिम समय में उसने इस मैप की एक कॉपी अपने परिवार के लोगों को सौंप दिया था और दूसरी कॉपी को उसके साथ ही उसके मकबरे में दफन कर दिया गया ये सुनने के बाद विक्रांत और नैना और ज्यादा कंफ्यूज हो उठे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए ऐसा लग रहा था कि गुफा में मिली डेड बॉडी और वहां गाय के स्किन पर लिखा हुआ राज इस केस को सुलझाने के लिए बड़ा क्लू साबित हो रहे थे जबकि जो इन लोगों ने पहले सोचा था वो इससे काफी अलग था उस संदेश में एक और चीज लिखी हुई थी प्रोफेसर त्यागी ने विक्रांत को समझाते हुए कहा नवाब साहब का सेनापति शेख मोहम्मद बहुत ही चालाक आदमी था उसने अपने खजाने के मैप को दो पत्थरों पर गढ़वा रखा था मतलब वहां गुफा के भीतर मिले लाश के हाथ में जो गाय की स्किन मिली थी वो खजाने का नक्शा नहीं थी उसमें तो बस खजाने के बारे में लिखा गया था खजाने का नक्शा तो किसी बेशकीमती पत्थर के ऊपर तराशा गया था हम लोगों ने वहां गुफा के आसपास उस पत्थर को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वहां हमें कुछ नहीं मिला अब ये नहीं पता था कि शेख मोहम्मद के परिवार वालों को वो पत्थर मिला ही नहीं था कि उन्होंने उस पत्थर को कहीं गुम कर दिया था लेकिन खजाने के नक्शे वाले उस पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका आगे मुकेश रस्तोगी ने बताया कि हमने नवाब साहब के सेनापति शेख मोहम्मद के रिकॉर्ड को भी चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि शेख मोहम्मद का एक ही बेटा था और शेख मोहम्मद की मौत के बाद उनकी संपत्ति का वो इकलौता वारिस भी था लेकिन शेख मोहम्मद की मौत के बाद उसका बेटा कहाँ गया उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए हमारा अंदाजा था कि शायद वहाँ गुफा के भीतर मिली लाश शेख मोहम्मद के बेटे की ही थी वहां हमें गुफा के भीतर काफी सारे हथियार और औजार भी मिले थे इस चीज से हमने अनुमान लगाया था कि नवाब हामिद खां के राज्य पर हमला होने के बाद शेख मोहम्मद का बेटा अपने साथ कुछ लोगों को और सेना को लेकर यहाँ जंगल में छुपने के लिए चला आया रहा होगा इस गुफा में वो लोग काफी दिनों तक रहे लेकिन फिर वहाँ कोई बीमारी फैल गई होगी और फिर सबके सब उसी गुफा में मारे गए होंगे हो सकता है कि शेख मोहम्मद के बेटे की मौत गुफा में ऊंचाई पर हुई रही हो इसलिए उसकी लाश वहां मिली थी इस वजह से हमें लग रहा था कि अभी भी शेख मोहम्मद का खजाना और गोल्डन पिलर कहीं पर छुपा रखा हुआ है क्योंकि आज तक उसे कोई ढूंढ भी नहीं सका है और अगर हमें वो पत्थर मिल जाए जिस पर इसका नक्शा बना हुआ है तो फिर हो सकता है कि हमें वो खजाना मिल जाए हम्म, अगर अभी तक वो पत्थर गायब है तो फिर ये भी हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि, कि किसी ने उस खजाने को अब तक ढूंढ लिया है नैना आशंका जताते हुए कहा हो सकता है कि कोई बहुत पहले ही उस खजाने को लूट चुका है हाँ बिल्कुल हो सकता है पूरा चांस है इस बात को इतने दिन हो गए तो कुछ भी हो सकता है विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा हो सकता है कि वो लाश उसी चोर की हो जिसने शेख मोहम्मद की फैमिली वालों का मर्डर करके पूरा खजाना लूट लिया हो या फिर ये भी तो हो सकता है कि शेख मोहम्मद के परिवार वालों के बीच ही खजाने के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा हो गया हो और उसमें से किसी का मर्डर हो गया हो कुछ भी हो सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता प्रोफेसर वीरेंद्र त्यागी ने विक्रांत की बातों को काटते हुए कहा हमारे अनुमान के अनुसार उस खजाने के मिलने की संभावना पांच परसेंट से भी कम है आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए पूछा हमने अपनी लगभग पूरी जिंदगी इस खजाने की खोज में लगा दी है प्रोफेसर त्यागी ने कहा हमसे ज्यादा इस खजाने के बारे में शायद ही कोई जानता होगा पहली बात तो ये कोई मामूली खजाना नहीं है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है अगर ये आज भी मिल जाए तो फिर पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज होगी ऐसे में अगर ये पहले कभी किसी को मिला है तो फिर इसके बारे में जरूर कोई ना कोई सबूत मिला होता है इतिहास के पन्नों में जरूर कहीं ना कहीं इस खजाने के मिलने का जिक्र हुआ होता है कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मिला होता है और दूसरी चीज इस खजाने का नक्शा पत्थर पर गढ़ा गया था ऐसे में शेख मोहम्मद के बेटे ने उस नक्शे को एक बार में ही याद कर लिया रहा होगा और फिर उसने उस पत्थर को तुरंत ही तोड़ दिया होगा तो उस पत्थर के मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है तो फिर मुझे ये बताइए कि विक्रांत ने सवाल किया जब शेख मोहम्मद के बेटे को खजाने के बारे में पता था तो उसने इसे लिया क्यों नहीं और वो इस तरह से गुफा के भीतर क्यों मरा ओ विक्रांत ने अभी अपना सवाल पूरा ही किया था कि अचानक से उसे इसका जवाब भी सूझ गया उसने तुरंत ही सोचते हुए कहा अच्छा तो ऐसा हो सकता है कि उस वक्त शेख मोहम्मद का बेटा ऐसी सिचुएशन में रहा हो कि खजाना उसके किसी काम का नहीं रहा होगा चाहे वो इसे हासिल ही क्यों ना कर लेता लेकिन ये उसके किसी काम का नहीं था हाँ सही बात प्रोफेसर त्यागी ने आगे कहा अब कोई भी हो लेकिन जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता उस वक्त शेख मोहम्मद के बेटे को परिवार वालों के लिए खुद की जान बचाना सबसे जरूरी था लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जान नहीं बचा पाए ओ विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा तो फिर तब से लेकर आज तक आप लोग गोल्डन पिलर और शेख मोहम्मद के खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे आप लोग उस खजाने को हासिल करना चाहते थे नहीं ऐसा नहीं था मुकेश ने विक्रांत की बात का जवाब दिया हम लोग पुरातत्व विभाग में काम करते हैं हमारा तो पुरानी चीजों को खोजने का काम ही है वहां भी हम अपना काम करने गए थे हमें किसी खजाने से कोई मतलब नहीं था जंगल से लौटने के बाद हमें अपने सर्च अभियान की एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और उस रिपोर्ट में हमें सब कुछ लिखना था जो जो जंगल के भीतर पुराने अवशेष मिले थे सबके बारे में लिखना था लेकिन फिर वहाँ हमारे चीफ सुरेंद्र सिंह के साथ हादसा हो गया और फिर हमारा सारा गेम ही पलट गया अच्छा हाँ सुरेंद्र सिंह उनकी उनकी डेथ कैसे हुई उसके बारे में बताइए नैना ने पूछा हाँ सुरेंद्र सिंह प्रोफेसर त्यागी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा हम लोग वहाँ गुफा के भीतर रहकर अपना काम करते रहे तब तक हम लोगों ने खजाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था हम लोगों ने तब तक यही सोचा था कि यहाँ से लौटने के बाद ऑफिस पहुंचकर पूरे सर्च अभियान की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे लेकिन जब हम वहां से लौट रहे थे तभी अचानक से वहां काफी भयानक बाढ़ आ गई गुफा के भीतर भी पानी भरना शुरू हो गया हम लोग जिस रास्ते से भीतर गए थे वो पलक झपकते ही बाढ़ के पानी से बह गया फिर भी हम लोग किसी तरह से खुद को बचाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तभी अचानक से पानी का एक झोंका आया और मणिरत्नम अय्यर को अपने साथ बहा ले गया लेकिन तभी सुरेंद्र ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए मणिरत्नम को बचा लिया लेकिन इसी बीच अचानक से उसके शरीर से लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर भिड़ गया और फिर सुरेंद्र का शरीर पानी के तेज बहाव के बीच चला गया वहां बहाव इतना तेज था कि कोई भी नदी के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर सका सुरेंद्र कुछ देर तक लकड़ी के सहारे बहाव के बीच में ही फंसा रहा हम लोग आंखों से देख भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे जब सुरेंद्र सिंह पानी के बहाव के बीच में फंसे हुए थे तभी उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था गोल्डन पिलर भूलना शेख मोहम्मद का खजाना उसे ढूंढ निकालना शेख मोहम्मद का खजाना वो चिल्ला ही रहे थे कि अचानक से लकड़ी का एक और टुकड़ा पीछे से बहता हुआ आया और वो सुरेंद्र को पानी की तेज धार में बहा ले गया इसके बाद से सुरेंद्र का कुछ पता नहीं चला इतना कहते कहते प्रोफेसर त्यागी की आंखों में आंसू आ गए उसके साथ ही मुकेश रस्तोगी भी काफी इमोशनल हो चुके थे वहां से घर लौटने के बाद मणिरत्नम अय्यर बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था वो किसी से ढंग से बात ही नहीं कर रहा था इसके बाद मुकेश ने आगे की कहानी बताते हुए कहा हम लोग उसके इस बिहेवियर के पीछे का कारण समझ रहे थे इसलिए हमने मणिरत्नम से कहा कि कुछ भी अब हम हमारे चीफ सुरेंद्र सिंह जी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे हम सब लोग मिलकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का काम करेंगे कैसे भी करके हम शेख मोहम्मद के खजाने को ढूंढ निकालेंगे तब जाकर मणिरत्नम अय्यर को थोड़ा सुकून मिला उसी दिन उसने खुद से ये वादा कर लिया था कि चाहे पूरी जिंदगी लग जाए लेकिन अब उस खजाने को ढूंढ कर रहेंगे और सुरेंद्र सिंह की आखिरी इच्छा पूरी करके रहेंगे लेकिन इस बारे में बात करते हुए प्रोफेसर त्यागी की आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई थी हम लोगों के लिए ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि अगर हम इस खजाने के बारे में पुरातत्व विभाग को बताते तो फिर ये बात स्टेट ऑफिस तक जाती और फिर उस खजाने की खोज के लिए एक स्पेशल टीम बनाकर लगा दी जाती जो कि हम नहीं चाहते दूसरी तरफ अगर हम इस खजाने के बारे में बिना किसी को बताए इसे खोजने का काम करते तो फिर हमारी नौकरी खतरा था क्योंकि कहीं से अगर बात खुल जाती तो फिर हमें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया और इस खजाने के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया हमने अपने घर वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया ये बात सिर्फ हम ही तीनों लोगों के बीच थी इस तरह से हमने खजाने को ढूंढना शुरू किया पिछले तकरीबन 20 सालों से हम इसी काम में लगे थे हम्म, प्रोफेसर त्यागी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन हमें नहीं पता था कि इस सफर का कभी अंत ही नहीं होगा